क्योंकि वह बाह्य स्व से भिन्न है आरोपित वस्तु है रज्वादिवदेव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही सही रज्वादि के समान विपरीत बुद्धि के द्वारा कृत अध्यास से भिन्न है वो किंच वह जो आत्मा कैसा है वह ब्रह्म कैसा है उनकी अन्य से उत्कर्ष बताने से काम चलता नहीं क्योंकि जो उत्कर्ष है वो भी परतंत्र ही हुआ दे हुआ करता है संसार में लेकिन एक दूसरे से उत्कर्ष है आप कहेंगे ये उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट है सब एक दूसरे के पराधीन है परस्परम भाव यंत्र काम चल रहा है लेकिन परस्पर भावना को आप परस्पर शोषण ही कहते वास्तव में शोषण है एक दूसरे के अपना अस्तित्व के प्रति एक दूसरे का शोषण कर रहा है लेकिन वो एक प्रेम भाव से हो जाता है उसका आप शोषण नहीं मानते हैं और परस्पर भावना करते हैं परस्परम भावना ये परस्पर वास्तविक भावना होती तो एक क्यों ना दूसरा टिकेगा ही नहीं जब एक के मरने के नौ बजे दूसरा दहा जाने दो कोई आपत्ति नहीं क्यों कहता है ऐसे इसका अपने मतलब से उसको मान रहा था अपने मतलब से मान रहा था ना दूसरे को यही यहाँ पर भी हाल है कि जब तक परस्पर भावना है एक दूसरे को उत्कर्ष होने के बावजूद भी एक दूसरे के अधीन है पराधीन जरूर है आत्मा आपने बताया सकल दोष गुण दोषों से अलिप्त होने के नाते सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है लेकिन उसकी उत्कर्षता के प्रति ये सारे के सारे न्यून उत्कर्ष वाले हो या अपकर्ष वाले पदार्थों की अपेक्षा हुई कि नहीं हुई क्योंकि उत्कर्ष शब्द ही अपकर्ष के अधीन है और अपकर्ष शब्द उत्कर्ष के अधीन है ये सब शब्दों को हम कहते हैं सापेक्ष शब्द रिलेटिव वर्ड्स गुड है बैड है परस्पर रिलेटिव है अच्छा है खराब है परस्पर जो सापेक्ष है उसे उत्कर्ष और अपकर्ष भी परस्पर सापेक्ष शब्द है इसलिए आत्मा को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ करके वर्णन भी करते हैं आपको उसके कथन करने के पीछे अपकर्ष वाले पदार्थों की अपेक्षा जरूर रहेगा इसलिए अगला मंत्र आता है इसमें जो उत्कर्ष की कथन भी हमने जो किया है वह सापेक्ष नहीं है निरपेक्ष कैसे एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुदाय करोति तमात्मस्तम ये नुपश्यंती धीरा तेषा सुखम शाश्वत नेतरेशा परमेश्वर सर्वदा वो जो परमेश्वर है वह सर्वगत है और स्वतंत्र है वो तो सर्वगत भी है और स्वतंत्र भी है क्यों सर्वगत है स्वतंत्र है क्योंकि वो एक है दो हो न तो परतंत्रता का विचार आएगा यदि संसार में कोई दूसरा होता तो उस दूसरे को लेकर के पहले में अपेक्षा की जा सकती है परस्पर सापेक्षता का कथन किया जा सकता लेकिन जो एक में वह द्वितीय है वहां द्वितीय है ही नहीं तो अपकर्ष उत्कर्ष कथन कैसे हो सकता है इसलिए पूर्व जो कथन है वह आध्यात्मिक पदार्थों की दृष्टि से कथन किया गया अधिष्ठान में वास्तविकता क्या है वो एक है एक होने के नाते वह किसी का वश में नहीं है किंतु सभी उसके वश में है अतएव वो वशी अंतरात्मा वह सकल बोधों का अंतरात्मा है इसलिए इसलिए वह एकम रूपम अपन बहुधा यह करोती क्योंकि वो जो है ना एक रूप वाला है नाना रूप वाला नहीं है एक स्वरूप है सच्चिदानंद घन स्वरूप है वो चिड़ई का स्वरूप है वो होता हुआ भी यह बहुधा करोती जो अपने आप को अनेक प्रकार से दिखा देता है रहता तो एक दिखाता है अपने आप को अनेक के समान मांड के प्रसाद वर्णन करेंगे भाषिकार सुंदर दृष्टान देंगे वहां एक बार एक राजा था वो जितने भी मायावी लोग हैं संसार उन सबको बुलाता था जहां पता लग गया हमको माया भी है तो बुला लेना भाई दिखाओ माया अगर ये तो माया मेरा पहले से देखा हुआ है बेकार है सबको पहल कर देता था और सामान्य दक्षिणा दे करके छुट्टी करता तो एक मायावी ने देखा ये तो राजा तो बड़ा परेशान करता है हमारी माया जो कला है इस कला के अपमान है वो आया राजा को महाराज हम भी एक मायावी हम दिखाना चाहते हैं और ऐसा विलक्षण माया दिखाऊंगा शायद आपने संसार में कभी देखा ही नहीं होगा अच्छा दिखाओ मनी मन हंसते हुए राज ने कहा इसको भी ठग देंगे वो चालाक उसने दिखाया उसने क्या किया झट से रस्सी भेजा एक भयंगा रस्सी जैसे खड़ा हो गया रस्सी सीधा और ऐसा संकल्प करते गया भयंकर युद्ध की सीनरी जोर से और देवता लोग बड़े परेशान और राजा के पास आए और राजा से कहा महाराज अब अपनी सेना दे दो और बस राजा ने कहा ठीक है और उसकी सेना रस्सी पे चढ़ते हुए धैर धैर धैर स्वर्ग पहुंच गई वहां भयंकर लड़ाई हुआ राजा भी गया था वो भी लड़ा और लड़ते लड़ते उसके पास कोष खत्म हो गया उसने इसी महावीर के बाप के से बाप ने दादा दादाओं से कर्जा लिया कर्जा लेके युद्ध लड़ा फिर जीत गया जीत कर गया लौटाया कहीं ऐसा है कहीं पर कहा कि टिप्पण नहीं वो मर गया मर के गिर गया तो घबरा गया घबरा गया देगा तो कुछ नहीं सामने चाहे जीत गया तो सामने से देखा उसका चित्र खत्म मायाजल खत्म माया ने कहा महाराज आपने कर्जा लिया था ना देखा था ना माया को इतनी बढ़िया थी कर्जा दीजिए वापस तो राजा कहते तो माया था तो माया कहा थी तो हमने पहले से देखा तो फालतू था ना असली बात तो वो है कर्जे की कभी वो भी माया ही था मान लिया इसलिए तुम्हारी माया जो है गजब है कला का बड़ा सन किया कि कर्जे तो अरबों रुपयों की थी तो दस बीस हजार देकर काम निपटा लिया उसने प्रशंसा करके तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ही था ना वहां पर वो किनारा था मैं भी अकेला बैठा था देवता बन गया हाथी घोड़ा बन गया रथ बन गया बड़ा युद्ध दिखाया सारा ड्रामा वैसे कर दिखाया और एक बताओ भी बहुधा करो तमात्म स्तंभ पुष्यंधी उसको जो अपने बुद्धिस्त रूपेण अनुभव स्व शरीर हृदयाकाश विद्यमान बुद्धि परिच्छेद में जो अनुभव कर लेता है चैतन्य रूपेण ये न पश्यंती धीरा ये धीरा न पश्यंती शाश्वत सुखम उन्हीं को मोक्ष भी शाश्वत सुख प्राप्त होगा न इतरेशा दूसरों को नहीं मिलेगा महर्षि स ही परमेश्वर सर्वदा स्वतंत्र रहा वह परोत्कर्ष दर्शन वाला परतंत्र वाला नहीं है वो स्वतंत्र है वो सर्वगत भी है वो अतः वो एक न तत्समेदी को वह न तो उसके बराबर कोई है न उसे बढ़ चढ़कर कोई दूसरा है न तत्समो न अभेदी को वह अन्योस्थी सकार नहीं वशी सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते वशी सर्वम ही जगत अस्य वशे संपूर्ण जगत उसी के वश में है क्योंकि उसी में परिकल्पित है कहा क्यों सर्वोदांतरा यदि तो एकमेव सत एक आत्मा विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपाधि शुद्ध रूपाधि भेद वशेरा बहुलाने का प्रकार व्यक्त करोगी क्योंकि एकमेव सद एक रसम आत्मान एक ही होता हुआ अर्थात एक रस है वो आत्मा है वो ऐसा विशुद्ध विज्ञान रूप है वो नाम रूपाद अशुद्ध उपाधि भेद वशे लेकिन नाम रूप आदि जो अशुद्ध उपाधियां हैं इन्हीं के वजह से लगता है हमें वो बहुत है बहुधा अनेक प्रकार यह दी स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत शक्ति अपने सत्ता मात्र से ही ये सब कुछ उनको प्रदान कर दे रहा है पट की सत्ता मात्र से ही अनेक चित्र उस पट पर विराजमान है और पट ही अनेक चित्र रूपेण दिखाई देता है और पट की सत्ता से ही हो जाए वह कोई चित्र नहीं टिक सकता है इसी प्रकार से इस आत्मा एक में इस आत्मा की सत्ता से ही ये अनंत का रूप धारण किया हो जैसे हमें अनुभव में आ रहा है स्वात्म सत्ता मात्र ऐसे क्यों हो रहा है अचिंत्य शक्तित्व उसकी शक्ति का कोई चिंतन नहीं कर सकता वो अचिंत शक्ति जितने भी दृष्टांत आप लेंगे वो सब सीमित शक्ति वाले चिंत शक्ति है यह कपड़ा कितना लंबा चौड़ा है उसे कितना चित्र आ सकता है कहा क्या तुम्हें दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सब चिंतन आप कर सकते हैं और सुंदर सुंदर चित्रण आप बना सकते हो आपकी चिंतित शक्ति के अधीन है कि जो अधिष्ठान पट भी सीमित ही है इसलिए सीमित वस्तु में सीमित चिंतन के द्वारा सीमित चित्रीकरण हो सकता है लेकिन उसमें भी असीम चित्रण नहीं हो सकता सीमित चित्र नहीं होगा यानी यह सर्वव्यापक सर्वगत होने के नाते असीमता है इसकी स्वस्वरूप ही असीम है उसकी शक्ति भी असीम अचिंत्य है इसलिए उसका चित्रण भी असीम ही होगा विदेशी लोग यहाँ के देखते हैं सब एक जैसे दिखते हैं और आप चाहिए जब आप जापान में आते सब एक जैसे दिखते हैं आप कोई फर्क ही नहीं है सब एक जैसे सा दिखते हैं गोरे गोरे गोरे गोल गोल से मुश्किल होता है फर्क पता लगा अभ्यास धीरे धीरे हो जाता है जैसे यहाँ भी अभ्यास आप एक दूसरे को पहचान रहे हैं तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं अचिंत शक्ति वाला उनसे अनंत रूप से प्रकट होता है तमात्म स्व शरीर हृदयागाश बुद्ध चैतन्य कारण अभिव्यक्त मित स्व शरीर में विद्यमान जो हृदयाकाश उस हृदयाकाश बुद्धि रूपी जो उपाधि उस उपाधि में चैतन्य आकार जो अभिव्यक्त उस अभिव्यक्त चैतन्य को नहीं शरस्य आधरतम आत्मना इस शरीर के अंदर आत्मा की आधारत्व की कल्पना नहीं समझना ऐसा नहीं कि शरीर आधार है और उसमें आधे भूत आत्मा है ऐसा नहीं है आत्मा ही आधार है आत्मा रूपी आधार में शरीर आधे भूत वस्तु है इन्हें आपने कैसे कहा स्व शरीर में जो हृदय उस हृदय काश में जो अरे वो तो बुद्धि तत्व है उस बुद्धि रूप में विशेष रूपेण प्रकट है इसे सामान्य आत्मा का अधिष्ठान अधिकरण आधार शरीर का नहीं मानना और जो विशिष्ट प्रकाश है जीव भाव को प्राप्त हुआ चैतन्य विशेष है उसी का आधार जो है इस शरीर है धीरे कहते आकाश हो अमूर्त क्यों जो शुद्ध आत्मा है वो आकाश के समान अमूर्त है जो अमूर्त है किसी का अधिकरण हो ही नहीं सकता आदर्श मुखम यदवत दृष्टान क्या कहना आदर्श में मुख्य मुख के समान संस्कृत भिन्न होते हुए भी प्रतिबिंब रूपेण आदर्श उसका अधिष्ठान बन गया इन वास्तव में आदर्श मुख का अधिष्ठान नहीं है जो बिंब होता मुख है वो आदर्श से भिन्न है लेकिन जो प्रतिबिंब का वो अधिष्ठान हो जाता है ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी जो बिंब है ये शरीर रूपी दर्पण से भिन्न है लेकिन उस आत्मा का प्रतिबिंब का अधिष्ठान शरीर जरूर है ठीक उसी प्रकार दृष्टान्त को लेनी है कहा तम एतम ईश्वरम महात्मानम तम एतम ईश्वर तार ईश्वर भी आत्मा को ये निवृत्त बाह्य वृत्त और ये धीरा धीर कौन है निवृत्त बाह्य वृत्तियों जिनकी बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो चुकी हैं अंतर्म को चुका है आवृत चक्ष पहले कहा हुआ है अनपश्यंदी वे अनुभव कर रहा है कैसे अनुभव करते हैं आचार्य आगमोपदेशम अनु साक्षात अनुभव दीदी रहा कि आचार्य और आगम इनके उपदेश के पश्चात ही साक्षात अनुभव कर पाते हैं के विवेकिना तेजाम परमेश्वर भूताराम ऐसे जो परमेश्वर स्वरूप को ही प्राप्त कर रहे वो जब आत्मा का अनुभव करे तो परमेश्वर ही हो गया शुद्ध ब्रह्म ही हो गए ब्रह्मी भवती तो उनको क्या मिलेगा शाश्वतम मन नित्यम सुखम मन आत्मानंद रूपम लक्षणम भवरी नेत्रेशम बाह्य आसक्त बुद्धि नाम अवेकिना सात भूतम अविद्या व्यवधान दूसरों को नहीं होगा कौन अब दूसरे जब बाह्य विषय में आसक्त बुद्धि वाले हैं अविवेकी है यद्यपि उनका भी आत्मा ही ब्रह्म ही है स्वात्थ भूतम अभी क्यों फिर अविद्या विधान अविद्या रूपी आवरण के कारण से सात भूत होने के बावजूद भी उस ब्रह्म का अनुभव करवाया शाश्वत सुख को मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं किंच नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम एको बहुनाम यो विधाति कामान तमात्मस्थं अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशा परमात्मा में वह एक है वशी है सर्वदांतर आत्मा है उसी में युक्ति दे रहे क्योंकि आप कैसे कहते हो एक है बहुत सारे नित्य पदार्थ नहीं आई गिन रहे कहते हो परमाणु भी नित्य बोल रहे आकाश दिग मन सब नित्य कहते जो नित्य कहते हैं ना ये लोग वास्तव में सब अनित्य उन अनित्यों में जो नित्यत्व का भान हो रहा है वो आत्मा का नित्य जो चेतन है करके हम अनुभव कर रहे हैं इन सगल चेतनों के अंदर विद्यमान जो चेतनता है वह उस आत्मा की चेतनता है एको नाम यो विदधाति कामान वह एक होता हुआ भी यो यथा माम प्रबद्यंत है भजाम हम के समान किसी भी देवता का पूजा करो जैसा भी करो वो सब का फल वही परमात्मा एक ही है अलग अलग नहीं है तत्त देवता स्वरूप द्वारा आपको फल प्रदान करते जाएगा इसलिए कहते हैं एकोपि सन यो बहु बहुनाम कामान विदधाती और एक होता हुआ भी सकल प्रकार के लोगों के सकल प्रकार की कामनाओं के अनुरूप उनके द्वारा कृत पुण्य पाप कर्मानुसारेण फल का विधान करता है तम आत्मस्थम ये दीराहान पश्य उस का आत्मा को जो विवेकी गण आचार्य का उपदेश के माध्यम से अनुभव कर लेते हैं वे ही लोग वास्तव में विश्वास शांति को प्राप्त करते हैं अन्य अविवेकी की बाह्य बुद्धि वाले प्राप्त नहीं करते हैं नित्यो अविनाशी अनित्याराम विनाशी नाम विनाशी पदार्थों के अंदर जो वस्तु नित्य रूपेण भाषित होता है वह वास्तव में वह विनाशी आत्मा ही है चेतन चेतरी नाम ब्रह्मादि नाम नाम दृष्टान्त अग्नि निमित्त में दाहकत्व मरंगनी नाम उदकादि नाम जैसे उदकादि क्या है दाहकत्व के निमित्त नहीं है अनग्निभूता जो उदकादि दिन दाह के वृद्धि निमित्त कब अग्नि के वजह से अग्नि के संपर्क में आकर के जल में भी दाहकत्व आ गया यदि अग्नि का संपर्क ना आता तो जल में दाहकत्व भी नहीं है उसी प्रकार यदि उस आत्मा का इस शरीर इस संबंध नहीं होता इस शरीर आदि में चेतनता का विभान नहीं हो सकता दृष्टान पहले लिया मैंने अग्नि निमित्तम युव दाहकत्व केशाम अनियामदकादि नाम यथा तथा आत्म चैतन्य निमित्त चेतरण ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम उसके साथ वे करो आत्म चैतन्य निमित्त ही ब्रह्मादि सगल प्राणियों के अंदर जो चेतित्व है उस चेतित्व के अंदर चेतित्र अन्येषा उस आत्मा के अंदर विद्यमान क्षेत्र चेतनता को लेकर के अन्य सर्वेशम ब्रह्मादि प्राणी पर्यंत सर्वेशम प्राणी नाम सकल प्राणियों के अंदर चेतनता का अनुभव होता है किंज सर्वज्ञ सर्वेश्वर स वो जो जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ भी है सर्वेश्वर भी है अतः कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम कामान फलानी स्वानुग्रह निमित्ता कामान यह देखो कामिनाम ने संसारी नाम संसारियों के द्वारा किए हुए कर्मानुरूप कामान में कर्म फल कर्म फलों को स्वानुग्रह निमित्ता स्वानुग्रह निमित्त भी क्यों ना हो उनको भी सबको कामान या एक बहुनाम एक वह अकेला होता हुआ सभी के अंदर अनायास उन कर्म फलों को प्रदान करते रहता है प्रयक्षति तम आत्मस्तम यह अनुपश्य पूर्वत है तेषा शांति रूपरती शाश्वत नित्या स्वात्भूता अनिवमिदाराम जो अविवेकी है उनको ऐसा नहीं होगा जो विवेकी होंगे धीर होंगे वे लोग आचार्य आगम उपदेश को ग्रहण करता हुआ शाश्वत प्रति को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि वह शाश्वत प्रति शाश्वत शांति आनंद रूपता स्वरूप ही है स्वात्मा ही है वह जो आत्मविज्ञान है विद्वानों का अनुभव के अनुसार भी परमानंद रूप हुई श्रुति कहती है इतनी बात नहीं श्रुति का कहे हुए का अनुसरण करने वाले लोग श्रद्धावान पुरुषों के अंदर ऐसा अनुभव भी होता है वही अनुभव को पता है तदिति मनंदे अनिर्देशम परम सुखम कथन तत्जानीयाम किम भाति विभाति वा अरे मैं कैसे कह सकता हूँ तुमको मैं कैसे उसे जान सकता हूँ इन कारणों के द्वारा मैं उसे जानकर अनुभव करके नहीं कह सकता कि वो भाती की भाती स्वयं यमराज जी कहते हैं मैं ये नहीं जान सकता मैं किस प्रकार जान सकता हूँ बताओ अर्थात मैं नहीं जान सकता उस चीज को विशेष रूपेणा कि ऐसे ही वाहन होता है या ऐसे ही वाहन नहीं होता किसी भी निर्णय हम उसके बारे में नहीं ले सकते क्योंकि तदे तत् अनिर्देशम इति मन्यंदे क्योंकि सकल शास्त्रकारों ने विद्वानों के कथनानुसार वह तत्व तो कैसा है अनिर्वचनीय है अनिर्देश्य है इसमें खपुष्प है वो अरे नहीं नहीं परमम सुखम परमानंद रूप है परमानंद रूप होता हुआ भी उसका निर्देशन नहीं कर सकता निर्वचन नहीं हो सकता इसे कथन नु भी जाने आप इसे बताओ मैं कैसे उसको जान सकता हूँ तो मैं नहीं जान सकता वो दीर्घ उपाधि में भी अनुभव करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता भाती विभाति भाती तो हमारी बुद्धि का विषय होकर प्रकाशित होता है या नहीं होता है ये हम नहीं कह सकते <laughs> इतना जरूर विद्वानों ने कहा है कि परमानंद रूप है और वो इसलिए परमानंद होते हुए भी निर्देश उसका निर्देशन नहीं हो सकता जैसे मिठास का वर्णन आप नहीं कर सकते कड़वापन का वर्णन आप नहीं कर सकते किसी भी चीज का वर्णन वाक्य में आदमी कर नहीं सकता संसार कोई भी पदार्थ आकाश पद्धति न्याय से भले किंचित हम कर ले वास्तव में कोई नहीं कर सकता क्यों कि किसी भी वस्तु को सर्वांगीण रूप से जान ही नहीं सकते तो वर्णन क्या करोगे क्या आज तक हम कोई ऐसा वस्तु तो है जिसको पूर्ण रूप में न जान सकते हो नहीं जान सकते अवयश कणश वस्तु को समय प्रकार से जान लिया जाए उसका वर्णन किया जाए यह असंभव है इसलिए जितनी आगे अकल चली जितना विषय आपने उस वस्तु के बारे में ग्रहण किया उतनी को लेकर के आप उसकी जो है गुणदान करते हैं या दोष कथन करते हैं वास्तव में सर्वरूपेण कोई आज तक किसी वस्तु को जानता ही नहीं तो वर्णन भी नहीं कर सकता जब वायु कल्पित जगत के वस्तुओं की दुर्दशा है इन कल्पनाओं का अधिष्ठान से आत्मा को कौन जान सकता है कैसे उसका वर्णन कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता इसलिए कहते कि देखो हम नहीं कर सकते इनकार कौन सकता है विद्वत पुरुष लोग कर सकते कथन नहीं कर सकते इतना ही कह सकते हैं वो अनिर्वचनीय है इतना लेकिन कपुष्पवत भी अनिर्वचनीय नहीं किंतु परमानंद रूप है ऐसा श्रद्धावान पुरुष लोग अनुभव करके कहते इसलिए विश्वास और श्रद्धा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है ना दोनों में बहुत फर्क है श्रद्धा और विश्वास दोनों अलग चीज भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण कहा है कि तुलसीदास जी ने कालिदास ने भी कहा श्रद्धा और विश्वास दोनों में आकाश पाताल का फर्क है विश्वास कर लेना आसान है लेकिन श्रद्धा करना लगभग असंभव है असंभव के समान लोग बड़े कहे हमारे अंदर आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है वो बड़ी नहीं है छोटी भी नहीं है वास्तव में है ही नहीं श्रद्धा होना इतना आसान बात नहीं है माया को वश कर लोगे तो श्रद्धा हो सकती है जब माया को वश नहीं कर सकता श्रद्धा नहीं कर सकता किंचित बनावटी श्रद्धा को लेकर हम झुक जाते हैं भले इन वास्तविकी श्रद्धा नहीं हो सकती इसलिए भवानी के लिए कहा श्रद्धा शंकर के लिए विश्वास आशुतोष तो ही है विश्वास तो शीघ्र हो सकता है श्रद्धा आसान नहीं है हर चीज पर विश्वास करके हम चल ही रहे हैं जब बटन दबाते हैं विश्वास है ना कि विस्फोट नहीं करेगा हर चीज पर जड़ चेतन सगल पदार्थों पर विश्वास लेके ही चल रहा है यह अनायास होते जा रहा है श्रद्धा सब पर हो जाती है क्या छह बनावटी श्रद्धा भी सब पर नहीं हो सकती यदि होती भी है तो कुछ समय तक होते बाद फिर डगमगा जाते हैं अपने अपने गुरुओं के प्रति तो ही श्रद्धा टूट जाती है तो नहीं श्रम इतनी रहती है कि बस उनकी छाया क्या उनकी खड़ाओं की आवाज सुनते उठ के खड़ा हो जाएगा बड़े सम्मान में दंडत मारेगा पूजा करेगा ही आदेश तो ऐसा है कि बस सिंधु के प्रवेश के घोड़े के समान कान खड़े रहते हैं और आदेश का पालन साल भर में नहीं होता है सब डमारे देखा इनके जैसे बहुत कहा गई वो श्रद्धा जो वास्तविक ही नहीं है इसलिए टूट जाती है निर्विशेष विश्वास ही श्रद्धा है हम हर चीज पर विश्वास करोगे हुए सापेक्ष होता है सातशय विश्वास है इसलिए श्रद्धा भी हम सातशय कर रहे हैं इसलिए वास्तविक श्रद्धा नहीं है कुछ अपेक्षा को लेकर करो जब निरपेक्ष निरपेक्ष श्रद्धा हो वो वास्तविक श्रद्धा है उसको श्रद्धा लब्ध ज्ञान में कहा है उसी को ही ज्ञान अनुभूति हो सकती है इसे भक्ति और प्रेम में भी यही फर्क समझना भक्ति और प्रेम में भी प्रेम सबसे कर सकते हैं हर चीज से प्रेम कर सकते हो लेकिन हर चीज के प्रति भक्ति नहीं हो सकती इसे नारद सूत्रकार ने कहा नारद जी निरतिशय प्रेमास्पदो भक्ति जो निरतिशय प्रेम का विषय होता है वो भक्ति होती है और जो प्रेम साधा है वह साक्षी ही होता है कारण क्या क्यों ऐसे होता है विश्वास बार बार बदलता है टूटता भी है श्रद्धा भी जो बनावटी होती है वो भी विश्वास कोटी में ही है लेकिन उस विश्वास के कार्य मुताबिक कुछ अधिक होने से उसका नाम हम श्रद्धा कह देते हैं असली श्रद्धा नहीं है इसलिए ये जो ये चीज कालावच्छेद देशावच्छेद होने वाली श्रद्धा भी विश्वास का अंतर हो रही है इसलिए वो जो विश्वास डगमाते और डगमगाते क्यों है कारण मानस तत्व का विषय है प्रेम मन का विषय है श्रद्धा और भक्ति बुद्धि का विषय है कुछ कोटि की चीज है जब तक मन से प्रेम हो रहा है मन से श्रद्धा होती है वह कभी भी टिक नहीं सकती है चंचल में मना कृष्णा और निश्चित से टूटना है ही और हम लोग जो भी कर रहे हैं प्रेम या श्रद्धा या विश्वास सब मन से ही करते हैं बुद्धि को इस्तेमाल करना तो हम लोग जानते ही आज तक किसने बुद्धि का उपयोग किया है आप कह सकते हमने किया विचार भी, भी करके देखो किया बिल्कुल नहीं यदि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख लेंगे जिस दिन आप सीख लेंगे उसी दिन से वास्तव में आप संत हो जाए उसके बाद आप मन के अनुसार नहीं नाचेंगे अब मन जो माल टाल ले जाके देता है बुद्धि को उसको लेकर के बुद्धि जो भी उसके बारे में निर्णय गुण दोष के निर्णय कर लेती उसके आधार पर फिर मन चाहने लगता है तो उसके अनुसार अपना चाहने लगती लेकिन तो जिस दिन बुद्धि को इस्तेमाल करने लगेंगे बुद्धि जिस चीज को जानना चाहेगी जिस चीज को ग्रहण करना चाहेगी उसी को मन के द्वारा ग्रहण करेंगे उसी को हम को हम मन के द्वारा जान लेंगे अब हम मनो अधीन है बुद्धि विवेकाधीन नहीं है इसलिए बुद्धि तत्व तो में निष्पन्न होने वाले जो श्रद्धा तत्व और विवशा और आपका भक्ति तत्व है वह हम लोगों से भी बहुत दूर है इसलिए गाने वालों ने गाया संत ही जो मन को माना इतना आसान नहीं है ना इसको जीतना प्रमाणाधि बलव दृढ़ अर्जुन ने कहा भगवान ने कहता है बिल्कुल सही है इसे कोई संशय नहीं है तुम जो कह रहे हो बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य है न अभ्यास ही न तु वैराग्य न चक्रियत है इन साधनों से ही मन को जीतना पड़ेगा जब मन को जीतेंगे तभी वास्तविक की श्रद्धा वास्तविक भक्ति हम लोगों के अंदर जागृत हो सकता है जो कि अहितु की श्रद्धा होगी अहितु की भक्ति होगी निरपेक्ष श्रद्धा निरपेक्ष भक्ति होगी वह अन्य भक्ति कही जाएगी वो अनन्य भक्ति है भेद विशिष्ट भक्ति नहीं है भेद निष्ठ भक्ति नहीं है भेद प्रेरित भक्ति नहीं है उसी प्रकार वह भेद निष्ठ श्रद्धा नहीं भेद विशिष्ट श्रद्धा नहीं और भेद से प्रेरित श्रद्धा नहीं इसलिए आत्मात्म गिरिजा मति बुद्धि तक गिरिजा है बुद्धि क्या है गिरिजा उसे वह भवानी श्रद्धा यदि नहीं ये सब बुद्धि तत्व का मामला है और बुद्धि तत्व पर अपना कमांड हासिल करना मन पर ही नहीं हो रहा है बुद्धि पर कहा से आएंगे इसलिए ये सब चीज अभ्यास से होगा करना पड़ेगा पहले मन लड़ेगा भिड़ेगा रोएगा उथल पुथल कर देगा लेकिन निर्भयता पूर्वक आपको धैर्य के साथ मन की हर इच्छा को मारनी पड़ेगी शास्त्र से संबंधी विचार को छोड़कर स्वाध्याय को छोड़कर मन जिस चीज को चाहने लगेगा उसको मना करते जाओ एक ही रास्ता है क्या करेगा वो अंत घुटना टेकेगा जब मानोगे नहीं आप किसी बात पे फिर भंडारा चलो नहीं खाऊंगा भंडारा भूखा रह जाऊंगा खाड़ दो पर्ची क्या कर लेगा मन कुछ देर परेशान करेगा शांत हो जाए फिर आप सूखा रोटी भी देंगे उसी से चुप रहेगा कहे चलो भैया क्या करे नहीं तो ये भी नसीब में नहीं ये तो मारे डालेगा मेरे को डर जाएगा वह चूत दोगे उसी में संतोष करने लग जाएगा और शास्त्रीय इच्छा करे को कोई आपत्ति नहीं शास्त्रीय इच्छा में भी ध्यान रखना है अधमाधम कार्यो में नहीं रखना है शास्त्रों में वो भी कहा गया है शीनिया भी कहा गया है तीर्थ यात्रा भी कही गई है जो कि आपके स्वाध्याय में सबसे बड़ा बाधक है विरक्त मंडली में माल घोटने को मिल सकता है लेकिन शास्त्र अध्ययन नहीं हो सकता है है या नहीं वो भी अच्छा है लेकिन एक स्तर है उसकी स्थिति है उसको भी उपभोग किंचित करके वैराग्य प्राप्त करना भी जरूरी है नहीं तो विवेक जग नहीं सकता है इसलिए विवेक को जागरूक करने के लिए बात कही जा रही है कि भाई वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा वास्तविक आ जाती है वास्तविक भक्ति जग जाती है वो व्यक्ति जान लेगा कि वह एक होता हुआ भी परमानंद रूप होने पर भी हम उसका वास्तव में कथन नहीं कर सकते वह निर्देश वह निर्वचनीय है यह बात तादृश उद्गत पुरुष के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है हम और आप साधारण व्यक्तियों के बस की बातें नहीं है इसी को ध्यान में रखकर बात कही गई इस पर विस्तार और देखा जाएगा भाति विभाति चल रहा जिसका भाषा यत्तदात्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम वह यह जो आत्मविज्ञान है वह सुखरूप है लेकिन सुखरूप होता भी वह निर्देशन करने योग्य नहीं है अनिर्देश निर्देश तुम्हारा शक्यम परम प्रकृष्ट परम मैंने प्रकृष्ट है अत्यंत है पराकाष्ठा है प्राकृत पुरुष यदि भी प्राकृत पुरुषों के लिए वाणी और मन किसी के द्वारा भी अनुभव नहीं किया ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसा होता हुआ भी गोचरम अपनी सन निवृत्त ऐसा ये ब्राह्मण निवृत्त ऐसा वाले जो ब्राह्मण है साध्य ऐसा से रहित जो लोग होते यह लोग परलोक के विभिन्न विषय भोग की इच्छा से रहित जो लोग हैं उनको काज निवृत्त ईश्वर ऐसे जो ब्राह्मणा ते तय तक प्रत्यक्ष उनके लिए तो वह यह जो आत्मा है ब्रह्म है सुख रूप परम सुख रूप वह प्रत्यक्ष ही है इति मन्यंत ऐसा मानते कथम के न प्रकार सुखम हम जानिया जब ऐसा है फिर किस प्रकार से मैं उस सुख को इन इंद्रियों का विषय रूपेण ग्रहण कर, कर जान सकूंगा अर्थात नहीं जान सकूंगा इदम इति आत्मबुद्धि विषय आपादेयम यथा निवृत्ति इदम इस प्रकार से आत्मज्ञान आत्मबुद्धि विषय आपादेयम इदम इस प्रकार जैसे हम सारे वस्तुओं ग्रहण करते हैं यम बुद्धि इदम मना अयम अहंकार नहीं इदम शरीरम अयम घट इत्यादि सारी चीज को आप क्या करते हैं इदम शब्द के द्वारा स्वबलत ग्रहण किया करते हैं उस प्रकार से आत्मज्ञान को विषय करता हुआ इदम तो ग्रहण नहीं हो सकता यथा निवृत्ते जिस प्रकार से निवृत्त वाले यदि लोग अनुभव करते हैं उस प्रकार से हम कथन कर ही नहीं सकते किमु तद भाति दीपित प्रकाशात्मक तत् यतो अस्मद्वती गोचर विभाति स्पष्ट दृश्यते किम वान वह प्रकाशात्मक रूप से क्या हम उसे दीप ग्रहण कर सकते हैं ये तो अतः अस्मदी गोचर विभाति स्पष्ट दृश्य दृश्यते किम वान अतः हमारे बुद्धि के विषय रूपेण स्पष्ट रूप से दृश्य होता है अथवा नहीं होता है क्यों कथम बोला है ना पहले कि किमु भी है कथम भी है इसी क्या कहते हैं कि भाई न प्रकाश रूपे में उसको मैं ग्रहण कर सकता हूँ क्या नहीं ग्रहण कर सकता हूँ या दृश्य रूपेण ही विस्पष्ट रूप से उसको दर्शन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ इस विषय में किसी भी प्रकार से इसको हम वास्तव में जान नहीं सकते मैंने इंद्रिय विषय द्वारा इस तत्व का ग्रहण नहीं कर सकते कौन स्वयं यमराज जी कह रहे इस बात को मैं स्वयं नहीं ग्रहण कर सकता फिर दूसरा क्या ग्रहण क्यों प्राकृत पुरुष ही आम आदमी क्या करेगा फिर इस विषय एक क्यों निवृत्त देशा वाले यति लोगों का ही काम है जो इसका वो अनुभव कर सकते हैं बाकी लोगों के बस की बात नहीं यद किंचित कामना भी रहेगा तो नहीं कर सकता तीसरे आए तो कल क्या है अकाम है ना सर्वकाम मोक्ष काम हो भागवत अकाम पुरुष यह सर्वरूपी आत्मा का ही कामना करने वाला जो पुरुष अथवा मोक्ष कामना करने वाला जो है वही व्यक्ति इस आत्मा का अनुभव कर सकता है हर व्यक्ति क्यों नहीं कर सकते अरे इतना जबरदस्त सूर्य है थोड़ा और नजदीक खेच के लाएंगे ना तो ज्यादा लाइट हो जाएगा नहीं ग्रहण कर लेंगे आत्मा को कहते नहीं नहीं न त्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने तो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति न तत्र सूर्यो भाति उस आत्म स्वरूप के विषय में सूर्य प्रकाशित नहीं होता अगर सूर्य से प्रकाशन नहीं कर सकता तो साधात्र विषय के संदर्भ में सूर्य का प्रकाशन शक्ति विकुंठित हो जाती है वह भी सूर्य के सामने जैसा दीपक कुंठित हो जाए उसी प्रकार सूर्य उस आत्मा के सामने में कुंठित हो जाता है यह सूर्य की दुर्दशा है फिर चंद्रमा ताराओं की तो कहना ही क्या है न चंद्र द्वारकम नेमा विद्युत ये विद्युत भी नहीं जो क्षण भर के लिए चमकता हुआ आसपास जो उसको प्रकाशन करके निकल पड़ता है उसी तरह वो विद्युत आत्मा के पास चमक करके हाथों को प्रकाशन करके चला जाए बोले कहते ऐसा भी हो नहीं सकता अब लकड़ी वाला अग्नि जिससे आप ताप रहे हो ठंडी में ये क्या करेगा उस आत्मा का प्रकाशन तो वही हम अग्नि क्यों क्यों ऐसे तमी भांतम मनोभा सर्वम क्योंकि उस आत्मा के प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से सारे की चीजें सारी चीजों प्रकाशित होते हैं तमेव भांतम उसके प्रकाशित होने पर ही अनुभातित सर्व सभी के सभी वस्तु प्रकाशित होते हैं ये सूर्य है यह भी आपके अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होने पर ही ये सूर्य है करके आपको जानकारी हुई मुर्दा क्यों नहीं बोल देता है सूर्य है, है? सूर्य का स्व अस्तित्व के कारण से सूर्य का प्रकाशन का ज्ञान आपको हो जाता है फिर मुर्दे को भी ज्ञान हो जाना चाहिए नहीं इस शरीर के अंदर जो आत्मा का प्रकाश है उस प्रकाश के सामर्थ्य इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है आपको कि यह सूर्य है नहीं तो ज्ञान ही नहीं हो सके इसलिए तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित जब तक हम नहीं होते हमारी उपाधियां प्रकाशित नहीं होती तब तक ये उपाधियां भी स्वबाह्य स्वभिन वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं कर सकती ये जब स्वयं ही प्रकाशित है तो दूसरे को क्या प्रकाशन करेंगे जब बिजली का बटन नहीं दबा तब बल्ब ही नहीं जला तो बल्ब दूसरे को क्या प्रकाशित कर देगा सबको प्रकाशन करने का समर्थन सामर्थ्य वाला भले ही बल्ब है लेकिन वह बल्ब भी दूसरे के अधीन है उस प्रकाश के बिना वह बल्ब स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता तो वह दुनिया को भी प्रकाशित नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार से उस एक बिजली की सत्ता के कारण से समस्त उदा बल्ब आदि प्रकाशित जब हो जाते हैं तब द्वारा आप गड़बड़ आदि विषयों को प्रकाशित कर लेते हैं तद्वत यहाँ पर भी समझ लीजिएगा कि आत्मा एक जो है सुपर बिजली हाउस समझो नहीं महान बिजली घर के समान है इतना प्रकाश इतना आनंद इतना यहाँ पर चेतनता है इतनी स्वसत्ता का संपूर्णता है कि वह सभी को सत्ता प्रदान करता है सभी को प्रकाश चेतनता प्रदान कर रहा है सभी को आनंद का भी अनुभव करा देता है जिसकी अस्थि भाति प्रत्यंश त्रय को लेकर के ही ये समस्त उपाधियां प्रकाशित हो गई हैं अतएव इन उपाधियों के द्वारा आप जगत को भी प्रकाशित कर लेते हैं इसी बात पे यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिख दिया तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिधम विभाति उसी के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशमान हो गए हैं अत्र उत्तर इधम भाति च विभाति चेती ये जो प्रश्न उठा था कि वो भाति विभाति वाह उसी के जवाब देते हुए कहते हैं क्यों नहीं हो सकता है कारण यह है कि कथम क्यों नहीं होगा तब जवाब देते न तत्व तस्मिन दे ब्रह्मणी सर्वाभाषको भी सूर्य न कापी स्वातुत ब्रह्म तत्व के विषय में यद्यपि घटपटारी सर्व जगत का अवभाषक है फिर भी यह सूर्य उस आत्मरूपी ब्रह्म विषय में न बाती न प्रकाशत है तद ब्रह्म न प्रकाशित उस ब्रह्म को यह सूर्य प्रकाशित नहीं करता तथा न चंद्र तारकम नियमा विदितो भांति इसी प्रकार से चंद्र और ताराए वैज्ञानिक कैसे मानेगा इस बात को वैज्ञानिक लोग तो इस बात को मान ही नहीं सकते है ना कहते ये कैसा होगा हमारी आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित हो रहे पूरा अंधकार में बिठा दो आदमी को उसकी आत्मा के प्रकाश जो क्यों नहीं प्रकाशित करता किसी वस्तु को हो गया उसको ये नहीं समझ में आता अरे भाई ये उपाधिया जितनी भी है हमारे पास करण इंद्रिया विशिष्ट प्रकाश को लेकर के ही ये वस्तु को प्रकाशित करते हैं आत्मा जो सामान्य सर्वभाव सर्वाभाषक प्रकाश है और तो सामान्य प्रकाश को लेकर इंद्रिया किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर पाते